और ए मेरी कौम ये क्या बात है कि मैं तुम्हें नजात की तरफ दावत दे रहा हूं और तुम मुझे आग की तरफ बुला रहे हो